भरत बचन सुनी देखी सने हो सभा सहित मुनि भय विदे हो भरत महामहि नजल रा से मुनिमत ठाढ़े चह पार जतन हे अहेरा पावत नावन तु तुबेरा और करही को भरत बड़ाए सर से पके सिंधु समाए भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए किसी को अपने देह की सुधि नहीं रही भरत जी की महान महिमा समुद्र है मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा थलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है भरत मुनि ही मन भीतर पाए सहित समाज राम पहिया प्रभु प्रणाम करी सुवासन बैठे सब सुने मुनियन सासन बोले मुनि बरु बचन विचारे देश काल अव सरयनुहारे तुनहु राम सर्व दज्ञ सुजाना धर्मनीति गुण ज्ञान निधान मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए प्रभु श्री राम चंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले हे सर्वज्ञ हे सुजान हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए सबके उर अंतर जान हो भाव कुभाव पुर जन जनने भरत हित हो सो कही आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं जिसमें पूर्वासियों का माताओं का और भरत का हित हो वही उपाय बतलाइए आरत कह विचारण का जुवाहि आपन सुनि मुनि बचन कहत रघुराओ नाथ तुम्हारे हाथ उपाव। सब करही तरुख राउर राखे आय के मुदित फूर भाखे प्रथम जो आयसु सु हो माथे मायणी करो सिख सोए आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते जुआरी को अपना ही दांव सूझता है मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे हे नाथ उपाय तो आप ही के हाथ है आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूँ न्नि जहि जस कहब सो सब सेवकाय कह मुनिराम सत्य तुम भाखा भरत सनेह विचारो न ते कह बहोरि बहोरि भरत भगति बस भति भोरी मोरे जान भरत जो कि जियसो शुभ शिवसी फिर हे गुसाई आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा आज्ञा पालन करेगा मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे हे राम तुमने सच कहा पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा शिव जी साक्षी हैं वह सब शुभ ही होगा भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरी करब साधु मत मत निपनय निगमन चोरी पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए फिर उस पर विचार कीजिए तब साधुमत लोकमत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए